और जो अहले किताब थे उन्होंने जुदा रास्ता उसी के बाद इख्तियार किया जब उनके पास रोशन दलील आ चुकी थी